नहीं तो वो मिथ्याभिमान आपको धराशायी कर देगा कि मैंने जाना है मैं समझ गया हूं ये जो कठिनाइयां आपको सुनाई जा रही ये एक गंभीर अध्ययन है इसकी दो धाराएं दो क्षेत्र हैं एक लोक और एक स्वयं जीवात्मा जैसे लोक में पदे पदे हमारे विरोधी तत्व हैं चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो समाज का हो परिवार का हो मित्रों का हो ऐसे ही इससे भी अधिक संकट प्रद स्वयं आत्मा हम हैं आप स्वयं को संयम में नहीं रख सकते स्वयं को रोक नहीं सकते अंदर जो जन्म जन्मांत की वासनाएं उनको जान नहीं सकते उनको निर्भर नहीं बना सकते उनको उखाड़ के नहीं फेंक सकते आप अपने आप संयम में रख के और पूरा त्याग तप के साथ नहीं चलते आपके मन में निष्काम कर्म की भावना उतर प्रोत नहीं है तो ये इस तो सफलता नहीं मिलेगी आपसे मैं पूछूं कि आपको भिक्षा मांग करके खाना पड़ेगा गांव नगरों में और वो लोग गाली देंगे पता नहीं क्या क्या कहेंगे तो आप में से कौन कौन तैयार है इस बात को आनंद पूर्वक भिक्षा मांग के लाएंगे और गालियों को सहेंगे बुरा नहीं मानेंगे और हमारे लिए भी भोजन देंगे आप भी खाएंगे कौन कौन तैयार है चलो यदि इतने थोड़े से यह बहुत बड़ी बात आनी है भिक्षा मांगे हजारों लोग भिक्षा मांग पा के खा रहे हैं एडी से चोटी तक परिवार बच्चे को लेके गृह से भिक्षा मांगे खा रहे हैं ये कोई पर ये जो व्यक्ति के मन में मान अपमान और ये डर लगना ये जो बीमारी है ये जिसके अंदर होगी वो ब्रह्म वेत्ता नहीं बन पाता कभी मैं और मेरा तू और तेरा जो और जिसका कौन और किसका क्या समझे कितनी बातें कही मैं और और तू और तेरा और फिर भूल गए सर्वनाम चार विभागों में बांट दिए ना जो और जिसका है जो और जिसका और, चार सर्व नाम चार सर्वनाम याद हो गए साधक जी कौन कौन से मेरा एक तू और तेरा जो और जिसका एक भूल गए कौन सा होगा कौन कौन से मैं और मेरा एक तू और तेरा जो और जिसका कौन और कौन, कौन और हाँ। ये व्यक्ति के दिमाग में बने रहेंगे वो व्यक्ति योग मारे पर नहीं चल पाएगा बस इन सब में सर्वनामों में ईश्वर और ईश्वर का बस यही चलेगा उसमें अब ये एक बड़ा तप है त्याग है या ये कहिए तप त्याग की स्थिति दूसरी बदलिए ये ये वास्तव में तात्विक ज्ञान है और ये त्याग और कठिनाई इसको इसलिए अनुभव हो रही है इसने उल्टा अपना दिमाग बनाया उल्टा रट्टा लगाया है मैं और मेरे का यदि वो बुद्धि पूर्वक विचार करता है तो उस जीवात्मा को एक और खड़ा कर दो अलग करो जब व्यक्ति कहीं भिक्षा मांगने जाता है और लोग उसको देखते हैं ये युवा अवस्था का ब्रह्मचारी है जवान है अट्टा कट्टा है और वो उसको धमकाते हैं और डांट मारते हैं और मखौल उड़ाते हैं देखो इस अट्टे कट्टे व्यक्ति को ये क्या पागलपन मन में आ गया है ये मांग मांग के खाता है इतना मोटा ताजा काम करके नहीं खाता तो आपको दुख होगा ही नहीं होगा नहीं होगा है आप बोलो नहीं होगा क्यों नहीं होगा स्वामी जी यदि हम समाज से भिक्षा मांग रहे हैं हम्म। और समाज की सेवा कर रहे हैं हम्म। उनका उपकार कर रहे हैं तब तो दुख नहीं होगा हम्म। और यदि केवल मांग मांग कर खाएंगे और समाज की तनिक भी सेवा न करेंगे तब तो गाली होगी दुख ऐसे भी तो होता है कि व्यक्ति वास्तव में भिक्षा मांगने का इसका अधिकार है विद्यार्थी है खाएगा ये विद्वान बनेगा तो समाज का उपकार करेगा तो भी वो लोग उसको गाली देते हैं तो भी अपमान करते हैं तो भी वो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा बात तो ये है उस व्यक्ति के प्रति क्रोध जागृत होगा या नहीं होगा साधक जी है हाँ जी अच्छा एक घटना सुनाता हूं जब हम रोहतक में रहते थे दयानंद मठ रोहतक उस समय हमें नगर से भिक्षा मांग करके लाते थे और मध्यान्ह में भिक्षा मांग के ले आते थे और मध्यान्ह में और सायकाल उसी को खाते थे और दो स्वामी जी रहते थे वहां सुरेंद्रानंद सोमानंद और हम जब भिक्षा मांगने जाते थे तो एक काशाय वस्त्र नीचा जो होता नीचे तक पहनते हैं जैसे वो कुल्फी बोलते हैं क्या बोलते हैं जुल्फी बोलते हैं चोगा जो भी और एक अपना बाल्टी लेते थे जिसमें सारा शाक डलता था स्वामी जी क्या करते थे उसमें दही डालो उसमें खीर डालो उसमें कुछ भी डालो सारा बाल्टी <laughs> और रोटी जो थी वो एक झोला जो टांगने का झोला होता है उसमें डालते जाते थे एक हाथ में लाठी एक हाथ में बाल्टी और एक झोला रोटी वाला और हम क्या बोलते थे भिक्षा देही ये बोलते और माताएं रोटी लेके आती थी और कभी कभी तो ये भी सुनाया उन्होंने ब्रह्मचारी जी आज हमारे पास में आटा नहीं है इसलिए रोटी नहीं दे सकते क्या समझा भारत का विभाजन हुआ था उस समय और बहुत शरणार्थी उस ओर से आए थे ना जो उन मायावती के जाते थे तो एक गली थी उसमें मैं मांगने के लिए जाता घर प्राय ऐसे होते ना निश्चित से कि भाई ये घर देते हैं ये ये और एक माता जी का घर मार्ग में था और वो माता जी हमको देखती जाते हैं आते और जब मैं निकलता और तब तो कहती मस्टंडे कहीं के मोटे ताजे कमा सकते हैं मांग मांग के खाते हैं क्या समझे आप कैसा लगता था ऐसे सुनाते हैं हम क्या सोचते हैं हमारा ये धर्म है हमारा ये कर्तव्य है मांग के खाना विद्या पढ़ना औरों को पढ़ाना और समाज राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है इसलिए ये नहीं समझते नहीं समझते मैं बिना समझे व्यक्ति ऐसा ही करता एक दिन की एक रोचक घटना सुनाता हूं हमारे गले में जो झोला होता था उसमें रोटी भरी हुई रहती थी एक हाथ में बाल्टी रहती थी एक हाथ में लाठी रहती एक कुत्ता आया भाग के काटने के लिए <laughs> और मैंने रोटी का झोला आगे हटा दिया <laughs> टकरा गया उससे और रुक गया रोटी भी दे दी उसको कुछ ना देने जाने की बात है तो टक्कर होगी वो आया काटने के लिए मैंने रोटी का झोला लगा के रोक दिया उसको यही अच्छा। ये इतनी रुक गया हो कुत्ता भी तो डरता है कभी लाठी नहीं मार दे बचना भी चाहता है कुछ और देखो दूसरी बात प्रातः अर्थात मध्यान्ह काल में जो भोजन लाते थे वो सारा शाक दाल और जो कुछ बाल्टी में घुल मिल जाता था उसमें मिर्च कहीं प्याज और कहीं लहसुन जो भी होता था घरों में वो डाल देते हमने नेम बना रखा था मिर्च नहीं खानी प्याज नहीं खानी लहसुन नहीं खाना कुछ नहीं खाना तो हमें केवल सूखी रोटी दोपहर को खा लेते थे और सूखी रोटी सायकाल खाते ये हमारा भोजन था आप इतना कर सकते हैं यानी मुझे बताओ हुँ? क्यों जी बोलो कुछ दिन के लिए कर सकते हैं है? कुछ वर्षों के लिए कर सकते हैं हाँ आजीवन बड़ा कठिन लगता है आजीवन की बात नहीं जितने दिन पढ़ना पढ़ाना हो स्वामी जी नासिक में छह महीने और खंडवा में सूखी भिक्षा लगभग तीन साल तक मांगी है अच्छा तो आपका तो अभ्यास हो गया अच्छी बात है आप मांग सकते हैं अभ्यास हो गया और कितने मत यहाँ भरी होगी कि हम मांगेंगे मांगना बहुत बुरा है मांगने से लोग क्या कहेंगे हमारे संबंधी नाराज माता पिता नाराज भिक्षुक बन गया है या नहीं आप में ऐसे क्यों संदीप जी है हाँ जी रणवीर जी क्या है हाँ कौन से में हाँ है ऐसे नहीं का मतलब दो है ऐसे आप नहीं ऐसे करेंगे ही हाँ जी बोलो अभी विचार नहीं किया अच्छा अब विचार कर लो हाँ जी बोलो विचार ही नहीं किया आप घटना होने से पहले स्थिति उत्पन्न होने से पहले जो व्यक्ति पहले से दिमाग बना लेता है वो सह जाता है और वो व्यक्ति उसमें जीत जाता है और वो साधनों को जुटा लेता है मानसिक या बाहर की और जो सज्जा तैयारी नहीं करता समय आने पर <laughs> वो पिटता है और वो मार खाता है और लुट जाता है और रोने पीटने लग जाता है मार्ग छोड़ देता है इस वर्तमान काल में भी आपको सुनाता हूं कि बालगढ़ वाला विद्यालय चला गया सोनीपत के पास उसका नाम क्या है देवली है क्या है रे रेवली गांव का नाम होगा और वहां पर विद्यालय चलता है और वहां पर लगभग पचास या कितने ब्रह्मचारी थे मैं गया जब तो उनमें से आधे या कितने खेतों में रहते ट्यूबवेलों पर रहते और वहीं अपना या तो भोजन बनाते हैं या गांव से भिक्षा मांग के लाते हैं और पाठ पढ़ते अब वर्तमान की घटना सुना रहा आधे के लग या आधे से अधिक खेतों में रहते हैं ट्यूबवेलों पर रहते हैं वो भिक्षा मांग के लाते हैं अथवा स्वयं बनाते हैं ऐसे रहते रहते एक जवान बहुत अच्छे बन गए थे बहुत गति हो गई थी आंध्र प्रदेश के थे परिचित थे उनके माता पिता वो ट्यूबवेल पर किस स्थिति में बिजली के तार से मारे गए उनकी मौत होगी अच्छे बुद्धिमान अच्छे हट्टे कट्टे जवान मरे थे अब भी वर्तमान में अब शेष जो वहां अंदर रहते हैं उनको अपना खर्चा स्वयं करना पड़ता है उनकी स्थिति तो इस मार्ग में तो ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं और आ सकती हैं और उन स्थितियों में आप ठीक बिना घबराए चलते जाएंगे डरेंगे नहीं पूरी सहन शक्ति के साथ लगे रहेंगे सभी कष्टों को सहने के लिए तैयार होंगे आप तब तो आप इस विद्या को वेद दर्शन विद्या को ब्रह्म विद्या को योग विद्या को सीख सकते हैं सिखा सकते हैं अन्यथा नहीं जिस समय व्यक्ति समाज में रहता जाता कभी या प्रचार करता है या कभी किन्हीं कार्यों के लिए चला जाता है उस व्यक्ति को समाज उस व्यक्ति को राजा उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा वर्ग उसको बेसमझ दीनहीन बिना पढ़ा लिखा भिखारी इस दृष्टि से देखता है समाज राजा इस दृष्टि से देखता है परिवार इस दृष्टि से उसको देखता है और उसमें दुखी होना और उसमें बड़ा संतप्त होना निराशावादी बन जाना या क्रोधित हो जाना ये सारी बातें आई ऐसा होने होने पर आप इस मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे बात और याद रखिए आप यदि इस मार्ग में इन कठिनाइयों को सहते हुए सफल होना चाहते हैं तो एक बात और आप यदि संगठित रहेंगे मिलके रहेंगे एक दूसरा दूसरे की तन मन से सहायता करेगा जैसे कि एक विशुद्ध परिवार वैदिक परिवार भाई बहन माता पिता दूसरे का हित चाहते सारी कठिनाइयों का सहन करते और मिलके ही रहते हैं कठिनाई होने पर भी ऐसे यदि मिलके रहेंगे आप तो सफलता मिलेगी नहीं तो विफलता मिलनी भी निश्चित हो जाएगी एक बात और ध्यान में देंगे आप अकेला व्यक्ति रहता है उसके मित्र नहीं है वो अपने गुरुओं के साथ भी नहीं रहा आप स्वतंत्र विचरता है स्वतंत्रता से काम करता है और अच्छी योग्यता भी बन गई मान के चलिए आपको सुनाया था यदि व्यक्ति समाधि प्राप्त कर ईश्वर साक्षात्कार कर और उसमें यदि ईश्वर के सानिध्य में जब तक रहने नहीं लग जाता ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक वो अकेला रहे किसी के अनुशासन में नहीं रहे ऐसी स्थिति में भी वो धराम से गिरेगा और तो बात छोड़ दी यहां तक व्यक्ति मार खा सकता है यदि देखना हो तो अनेक पढ़े लिखे उपदेश के रूप में आने वाले प्रचार करने वाले को आप देख सकते हैं ये व्यक्ति सोचता है मानता है मैं दिन अनुशासन में रहूंगा तो बड़ा दुख रहेगा बड़ा बंधन रहेगा कष्ट ये तो प्राचीनता है ऐसे सोचता रहता है स्वतंत्र रहूंगा इसको ये पता नहीं जहां स्वतंत्र दिमाग काम करे रहेगा तो वहीं धराशाई होगा इसकी स्थिति है जिन जिन ने ऐसी गतिविधि अपनाई और जो आदर्श लेके वो चलते थे मानते थे कि हम ऐसे बनेंगे ऐसे बनाएंगे औरों को समाधि तक पहुंचेंगे पहुंचाएंगे प्राय या तो वो लुढ़क गए मार्ग ही छोड़ दिया अथवा उनका स्तर नीचे गिर गया ये दो स्थिति देखी गई अब विराम हम्म। साधस्वा मा सुचरिते भज उदायुषा सुवायुषोदस्थाम् अमृताम् मनु सम्मान्य विद्वद्गण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं कल के इस प्रसंग में आपने सुनने का प्रयत्न किया था कि संसार के अंदर जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों में सबसे कठिन कार्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना है शंका हो तो पूछो समझ गए तो आचरण में लाओ न पूछना न शंका और समझने में भी कोई प्रयास नहीं तो इस प्रकार की विद्या पठन पाठन का कोई विशेष लाभ नहीं है जिस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति करना और करवाना सबसे अधिक कठिन कार्य है तो सभी ज्ञान कर्म उपासना कार्यों का जो फल है उन समस्त ज्ञान कर्म उपासनाओं का फल ईश्वर प्राप्ति फल के तुल्य नाम मात्र का है या ये कहो वो सुख होता हुआ दुख रूप बन जाता है अब क्या समझ में आया हाँ जी रणबीर जी बोलिए अन्य समस्त ज्ञान कर्म उपासना का फल ईश्वर के ज्ञान कर्म उपासना के फल के सामने नाम मात्र गौण मात्र हैं ये जो इससे सुख फल मिलता है ये भी दुख रूप बन जाता है ईश्वर की फल की अपेक्षा से ये ईश्वर प्राप्ति करने करवाने वाले फल के साथ में लौकिक ज्ञान कर्म उपासनाओं के फल की तुलना आपको समझ में आ गया साधक जी बोलिए क्या आया समझ में लौकिक पदार्थों का ज्ञान लौकिक पदार्थों के साथ कर्म यानी उनका प्रयोग और लौकिक पदार्थों की उपासना का जो फल है वह है ईश्वर की ज्ञान कर्म उपासना के फल के तुल्य नहीं है अर्थात बहुत कम है तो जिस समय व्यक्ति इनकी तुलना इस रूप में कर लेता है और कुछ समझ में आ जाता है उस स्थिति में व्यक्ति विचलित नहीं होता स्वयं को वो इस रूप में नहीं देखता कि मैं इस योग मार्ग पर चलने से उन्नत नहीं हो सकूंगा या मैं पूरा सफल नहीं हो पाऊंगा या उसके मन में संशय उत्पन्न हो जाता हो ये दोष नहीं आएंगे जहां जहां पर अपना बौद्धिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में इसका निर्णय करता है ये एक स्थिति है जहाँ जहाँ अपना ज्ञान व्यक्तिगत बौद्धिक स्तर सामर्थ्य अनुभव रूप में इस चीज को दोनों को नहीं देखता अनुभूति नहीं है दोनों की अर्थात ईश्वर प्राप्ति करने से ये सुख मिला और लौकिक सुख में कितने दोष है वो दुख रूप है इसका अनुभव नहीं करता आप तो आ गया समझ में या नहीं आया उस स्थल पर व्यक्ति स्वयं इस स्तर पर रहे जो वेदों में लिखा है ऋषिकृत ग्रंथों में लिखा है कि दुख में व श्रम विवेकी न और जो उसमें मुक्ति और बंधन के विषय में लिखा है लौकिक सुख और इस प्राप्ति सुख वो प्रमाण रूप से यदि व्यक्ति शत प्रतिशत उसको ठीक मान लेता है तब भी इस मार्ग पर चल सकता क्या समझ में आया दिनेश जी जैसे मैंने कहा उसको दोहराइए यदि व्यक्ति यदि व्यक्ति ईश्वरीय सुख को थोड़ा अंश में भी प्रत्यक्ष कर लेता है हाँ। एक स्थिति ये है उसमें अथवा नहीं करता नहीं करता है तो वेद आदि शास्त्रों और ऋषिकृत ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है कि लौकिक सुख में जो दुख मिश्रित है तो उसे परिपक्व अवस्था में लावे तब व्यक्ति इस मार्ग पर स्थिरता प्राप्त कर सकता है और यदि कोई व्यक्ति दूसरी स्थिति को प्राप्त न करे और प्रयास करता रहे तो उसको विशेष सफलता नहीं मिलेगी एक स्तर है उनमें भी और विशेष सफलता के अतिरिक्त वो फिर जाके संसार के भोगों में लिप्त हो जाएगा दो स्थिति इसकी भिन्न में अंतर ये अवस्थाओं क्या अंतर किया आप बोलो फिर बोलो इससे पहले वाली जो बात हो रही वही समझ में नहीं आई इसलिए कम समझ में तीन भी बात किया हाँ सुनो फिर से सुनो पहली स्थिति मैंने आपको बतलाई जो व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार का फल देख लेता है अनुभव हो जाता है और इनमें दुख मिश्रित सुख को भी देख लेता है ये व्यक्ति पूर्ण रूपेण सफल होता और उनको सफल कर सकता है एक स्थिति है एक व्यक्ति इतना स्तर नहीं कर पाया ईश्वर का प्रत्यक्ष उसको नहीं हुआ और लौकिक सुखों में दुख की अनुभूति भी नहीं कर पाता वो शब्द प्रमाण से वो शत प्रतिशत सत्य मानता है वेद वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथ उनमें उसको संदेह नहीं है ऐसा मान के चलिए यद्यपि उसने ऊंचा समाधि का सुख सामान्य सुख को छोड़िए और लौकिक सुखों में दुख अनुभव नहीं भी किया है ऐसा मान के चलिए और वो शत प्रतिशत इन बातों को मान के चलता है तो वो इस मार्ग पर चल सकता है और कालांतर में यदि वो उचित प्रयास करता है तो वो समाधि को प्राप्त कर सकता है ये दो विभाग हो गए तीसरे विभाग में न तो व्यक्ति समाधि सुख का अनुभव कर पाया इसे साक्षात्कार नहीं हो पाया न लौकिक सुखों में दुख का अनुभव कर पाया आगे बढ़िए और दूसरे स्तर में न वेद और वेदानुकूल ऋषि कृत ग्रंथों में शत प्रतिशत विश्वास है कुछ पांच प्रतिशत है दस हो सकता है आदि आदि इतना है उसमें उसकी स्थिति दो होगी एक स्थिति तो ये होगी वो उसी स्तर पर चलता चलता लौकिक वासनाओं से होता प्रवोत तीन निष्णाओं की पूर्ति में लगा रहेगा पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करेगा एक विभाग है उसका मात्र पांच दस प्रतिशत वेदांत छात्रों की श्रद्धा होने से हाँ पांच या दस भी क्यों नहीं हो वो रुकेगा गृहस्थाश्रम में प्रवेश भोगों की ओर नहीं करेगा तो हाँ क्या दस प्रतिशत विश्वास होने पर विवाह नहीं करेगा ये शंका है हाँ मैं बताता हूँ हाँ ऐसा होता है उसने संन्यास ले लिया नैष्टिक में मजारी बन गया फिर क्या स्थिति है उसकी दस प्रतिशत श्रद्धा है नब्बे नहीं है तो फिर इसमें नहीं जाएगा क्योंकि लोग का उसको भय है आया समझ में नहीं आया ऐसा देख सकते हैं आप और ऐसा पूरा मोड़ खाते हुए देखना हो तो सन्यासी बन के फिर गृहस्थी बने देख रहे लाल कपड़े ऐसे सन्यासी के देखना हो तो वो देख सकते हैं आप आ गया समझ में अब मापदंड दूसरी भाषा में पैमाना मापदंड अपने ऊपर लागू करके देखो आप कहां खड़े हो <laughs> इन अवस्थाओं से कौन सी स्थिति है आप और कौन सी स्थिति है तो वो किस किस में परिवर्तित हो सकती है स्वामी जी स्थिति विशेषों में तीनों स्थितियाँ परिवर्तित होती रहती है तीनों जब होती है जब व्यक्ति का पक्का स्तर ना हो और आंशिक रूप में तो प्राय चीजें वृत्तियों के रूप में तो कोई सुपन अवस्था में उभर जाएगी कोई कहीं रुग्ण अवस्था में थोड़ी सी उभर जाना ये थोड़े थोड़े आंशिक परिवर्तन तो होते रहते हैं प्रवृत्तियों में जैसे असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त व्यक्ति की भी कभी संप्रदाय